धीमा लंबा श्वास मन को श्वास पर केंद्रित कीजिए सर्वरक्षक परमात्मा की भावना तीन बार ओम का उच्चारण श्वास भरें ओ उपस्थित शिविरार्थी महानुभाव आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए मन की शांति आवश्यक है मन की शांति के लिए साधना की जाती है हमारे जीवन में बहुत सी अशांतियां हैं उनमें बहुत सी का कारण दूसरे हैं निमित्त दूसरे हैं लेकिन हम भी कारण हैं और बहुत सी अशांतियां ऐसी हैं जिसका कारण पूरी तरह से हम ही हैं जब व्यक्ति ये देखता है कि इससे मेरी हानि हो रही है दुख देखता है प्रतिकूलता देखता है तो अशांति का अनुभव करता है बेचैन हो जाता है ये सब बातें पीछे हमने कुछ समझी आप लोगों ने अपना अपना निरीक्षण किया प्रतिकूलता बाधा हानि है या नहीं ये एक अलग बात है लेकिन यदि हमें प्रतीत हो रही है तो हम अशांत हो जाते हैं तो जो बाधा प्रतिकूलता हमें दिखाई दे रही है यदि उसे हम बाधा और प्रतिकूलता के रूप में न देखें हम अपने ज्ञान को कुछ इस तरह से बदल दें कि अब वो प्रतिकूलता नहीं हानि नहीं लाभ के रूप में दिखने लगे ज्ञान के स्तर पर दृष्टि के स्तर पर यदि हम परिवर्तन कर लें तो परेशानी भी कम हो ही सकती क्योंकि तो बाधा पीड़ा हो या ना हो हम यदि उसे बाधा पीड़ा समझ रहे हैं तो अशांति आएगी बाधा पीड़ा है तब हमें क्या करना चाहिए क्या दृष्टि बदलें और यदि बाधा पीड़ा है ही नहीं हमने वैकल्पित ही समझ रखी है तब तो वैसे हट ही जाएगी लेकिन जाएगी समझने से दुख और अशांति में कुछ अंतर हम कर सकते हैं दुख के कारण अशांति होती है अशांति से हम फिर दुखी होते हैं ये सब तो प्रतीत होता है अशांति कुछ ऐसा भाव होता है प्रतिकूलता का जिसमें हमें कोई समाधान नहीं सोच रहा होता है क्या करें ऐसी स्थिति आ गई एक होता है हमें समाधान दिखाई देता है प्रतिकूलता है दुख है लेकिन समाधान दिखाई दे रहा है चोट लग गई कटपट गया दुख हो रहा है खून निकल रहा है दुख हो रहा है लेकिन हमें चिकित्सक या चिकित्सालय दिखाई दे रहा है यहां चिकित्सक है पता लग गया और हम पहुंच जाएंगे अब पीड़ा तो हो रही है लेकिन अशांति नहीं है समाधान दिखाई दे रहा है निकट भविष्य में हो जाएगा लेकिन यदि हमें ये पता लगे यहां कोई चिकित्सालय ही नहीं है कोई चिकित्सक ही नहीं है अथवा बहुत दूर है एक घंटा लगेगा 150 किलोमीटर दूर है अब हमारे को बेचैनी होने लगी कि ये खून निकल रहा है तो क्या होगा इतनी देर क्या होगा अब हम बेचैन होना शुरू होंगे हमारी अशांति बढ़ जाए तो प्राय करके जिन चीजों के प्रति हम अशांत हो जाते हैं उनमें हमें समाधान नहीं दिखाई दे रहा होता उलझ जाते हैं जो समाधान दिखाई देते हैं वो भी तात्कालिक छोटे अधूरे पूरा समाधान दिखाई नहीं देता और ऐसे में जो हमारी बेचैनी घुटन असमर्थता की अनुभूति होती है कुछ कर नहीं सकते क्या करें बेचैन हो जाते हमारा धन जाए संपत्ति जाए परिवार के लोग जाए उनसे संबंधित समस्या हो वो सब कारण होते हैं कल जैसे कुछ चर्चा आपके सामने की हम एक आध्यात्मिक व्यक्ति की तरह यदि उस स्थिति को घटना को देखें आध्यात्मिक व्यक्ति की तरह का मतलब अपने शरीर और परिवार के साथ साथ मैं आत्मा इस घटना को देख रहा हूं इससे प्रभावित हो रहा हूं अपने को जोड़ के चले और परमात्मा को भी साथ में रख लें यदि हमारे मन में ये भाव सिद्धांत दर्शन स्पष्ट हो गया है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान न्यायकारी सबसे बड़ा अंतिम न्यायालय है वहां अन्याय कभी नहीं होता तो अब संसार में जो अन्य व्यक्ति हमारे साथ अन्याय कर देते हैं तो मन में ये बात रहेगी कि परमात्मा की तरफ से फिर भी मेरा न्याय हो जाएगा हम आत्मा को मानते हैं तो हम पुनर्जन्म को भी स्वीकार करेंगे अगला जन्म फिर होगा फिर अवसर मिल जाएगा उस दृष्टि से देखें तो हमारी अन्यों के द्वारा की गई कोई भी हानि धन की संपत्ति की शरीर की वो सब न्याय के क्षेत्र में आती है परमात्मा के न्याय के क्षेत्र में आती है जैसे बीमा हो तो टक्कर भी लग गई फैक्ट्री भी जल गई तो भी व्यक्ति को बेचैनी नहीं होती है पैसा मिल जाएगा भरपाई होगी यदि पूरी हो रही हो तो ऐसे ही परमात्मा तो बहुत बड़ा बीमा है हमारा वहां हर चीज की भरपाई होनी है तो हम अभी दुखी क्यों हैं मन में आता है कि अभी तो हानि हो गई भरपाई फिर बाद में होगी अगले जन्म में होगी तब तक तो परेशानी हो गई ना नहीं ये जो हमारे को देरी होती है उसकी भी भरपाई होती है जैसे धन हमारा किसी ने चुरा लिया और फिर एक साल बाद में मिले और तो साथ में हो कि ब्याज सहित मिलेगा तो अब घबराहट नहीं होगी क्योंकि जी आपने पांच साल दस साल बाद वो ही धन दिया मूल्य भी कम हो गया ब्याज तो नहीं मिला लेकिन ब्याज सहित अवमूल्यन सहित और इसके साथ में जोड़ दीजिए कि उस धन से मैं अभी जो एक लाख रुपया था उससे कुछ करता अब पांच साल बाद मिलेगा ब्याज सहित दे दिया लेकिन जो मेरे को पांच साल पहले करना था वो तो मैं नहीं कर पाया वो तो अवसर चूकी गया तो जो हम उससे कर सकते थे उसकी जो हानि हुई है उसकी भरपाई थी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं ऐसी भरपाई करेगा तभी तो परमात्मा न्यायकारी कहलाएगा तभी तो वो पूर्ण न्याय होगा तो इसलिए भविष्य में परमात्मा का न्याय होगा इसको लेकर के भी जो हमारे मन में आशंका आ जाती है हम अशांत हो जाते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं वो परमात्मा बिल्कुल ठीक ठीक उचित पर्याप्त क्षतिपूर्ति करेगा अब ये धन हो शरीर हो पद प्रतिष्ठा हो सबके लिए लागू हो अपयश हो गया तो भी हमारे को बाधा होती है परमात्मा उसकी भी पूर्ति करेगा हमारे में ऐसी शक्ति सामर्थ्य देगा हम कम पुरुषार्थ से भी अच्छे साधनों से अच्छा कर पाएंगे स्थितियां बदल जाएंगी लेकिन शर्त यह कि हम ठीक होने चाहिए यदि हमने भी गलत कर रखा है दूसरे ने भी हमारे लिए गलत किया हमने भी उनके प्रति गलत कर दिया तो अब हम ये आशा करें कि दूसरे ने जितना गलत किया उसकी पूरे की पूर्ति हो जाएगी नहीं हम भी तो गलत कर चुके हैं उसका भी तो असर आएगा परमात्मा उसका भी तो न्याय करेगा आत्मा को जब हम साथ में लेके चलते हैं और परमात्मा को साथ में लेके चलते हैं तो ये अशांति कम आती है या तो नहीं आएगी ये हमारे स्तर के ऊपर निर्भर करता है कि हम इनको कितना साथ में लेके चल सकते हैं अब इसमें हमने किया क्या हानि तो हुई है धन की शरीर की वस्तुओं की लेकिन हमने उसकी पूर्ति देख ली हमारा हमने ज्ञान बदल लिया हमारा हानि तो हो रही है लेकिन मिल जाएगा जो हानि हो रही है वो तो प्रत्यक्ष है हम ऐसा नहीं कह सकते कि हानि ही नहीं हुई ये तो हानि तो है सामने दिख रही है लेकिन हमें पता है कि इसकी पूर्ति हो जाएगी कई लोग इन स्थितियों में ये समाधान करते हैं भाई हमारा भाग्य ही ऐसा है ये भी एक समाधान का प्रयास है भी ठीक है मेरे भाग्य में ही ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया लिखा हुआ था परमात्मा के द्वारा किया हुआ था अपनी कुछ अशांति को तो दूर करेंगे लेकिन ये सोच अन्य बहुत सी समस्याओं को लाने वाला है ये सिद्धांत से विपरीत बात है ये आध्यात्मिक प्रगति नहीं होने देगा थोड़ी देर के लिए अशांति दूर करेगा क्योंकि इसमें हम ये मानते हैं कि दूसरे के द्वारा जो हमारे प्रति अन्याय किया गया वो हमारे भाग्य के कारण था यानी हम ही कारण है उसमें यानी दूसरा कारण नहीं है अब व्यवहार में दिक्कत आएगी तो हम दूसरे से नाराज क्यों हैं जब हमारा ही भाग्य था तो और यदि हमारा ही भाग्य था और परमात्मा के द्वारा ये किया जा रहा है तो फिर हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कोई प्रयत्न नहीं करना है न भाग्य में जो लिखा है वो तो मिलना ही है हम पुरुषार्थ से दूर हो जाएंगे शुद्ध रूप से हमें क्या सोचना है दूसरे व्यक्ति हमारे साथ अन्याय कर सकते हैं अधर्म कर सकते हैं उसका हमारे भाग्य से संबंध नहीं है सीधा या वो परमात्मा करवा रहा है ऐसा भी नहीं सोचना है वो व्यक्ति अपनी अज्ञानता से हमारे साथ अन्याय कर रहा है परमात्मा बाद में न्याय करेगा उसके साथ भी और हमारे साथ भी ये सोच के जब हम चलेंगे तो सिद्धांत में भी कोई दिक्कत नहीं है अन्य व्यवहारों में भी हमारे को दिक्कत नहीं आएगी और हम स्पष्टता से चल सकेंगे तो हमारे को हानि हुई कहां पर हमारे को हानि हुई क्या कुछ भी हानि नहीं है जब हर हानि की पूर्ति होनी है तो हानि हुई कहां पर ब्याज सहित देर सहित सबकी भरपाई होनी है तो हानि हुई कहां कुछ भी हानि नहीं हुई तो जितना विश्वास ईश्वर पे हमें आ जाता है और ये सिद्धांत स्थिर हो जाता है कुछ भी हो जाएगा हमारी वास्तव में हानि नहीं हो सकती मकान छिन जाए बच्चे इधर उधर हो जाएं, उनको कोई उठा ले कोई मार दे हमारा हाथ काट दे बेघर कर दे हम सड़क पे घूम रहे हैं एक कपड़े के अंदर खाने पीने को भी नहीं है ठीक है जितना सामर्थ्य फिर कर लेंगे लेकिन जो हुआ हमारे साथ जो छीन लिया गया उसकी पूर्ति हमारे को होगी तो अब बेचैनी की क्या बात है सारी चीजें छिन गई है कि अब क्या करूंगा मैं भविष्य में इसकी बेचैनी तो ठीक है जितना पुरुषार्थ है उतना करेंगे और फिर भी नहीं हुआ फिर भी जो कष्ट हुआ उसकी भी पूर्ति हो जाएगी कष्ट झेलना भी पड़ा पूर्ति होगी परमात्मा की तरफ से ये वो चीजें हैं जो दूसरों के द्वारा की गई और वास्तव में हमारे को ये हानियां दिखाई देती हैं हमारी अशांति का इन स्थूल चीजों के अतिरिक्त इन सबसे भी बड़ा कारण लोकेशता होता है लोग क्या कहेंगे इसकी बेचैनी हमारे को होती है बच्चा हमारा हम अच्छे हैं बच्चे को भी हमने अच्छा बनाया लोग को भी कहते थे हमारा बच्चा बहुत अच्छा है अब बच्चे ने कोई बड़ी गलती कर दी बच्चे को गलत आदत लग गई अब हम बेचैन हैं अब हम अशांत हैं बच्चे माता पिता के लिए सोच सकते हैं पति पत्नी आपस में सोच सकते हैं यही बात जिनको हम अच्छा कहते थे समाज में जिनकी हम प्रशंसा करते थे जिनसे हम जुड़े हुए थे व्यक्ति से संस्था से ग्रंथ से मत संप्रदाय से धर्म से जिससे भी हम जुड़े हुए थे और हम वहां की बहुत प्रशंसा करते थे और अब यदि वहां कुछ गलत हो गया और अपयश हो गया तो हमें बड़ी बेचैनी होती है अशांति हो जाती है क्यों हो जाती है जिसके लिए हमने बहुत किया और अब वो उसको स्वीकार नहीं कर रहा है विपरीत व्यवहार हमारे से कर रहा है जिसको हमने पाल पोस के बड़ा किया अब वो बिगड़ गया जिस संस्था को हमने पाल पोस के बड़ा किया सब तरह से जिस जिस तरह से सहयोग था वो किया और अगर वहां विकृति आती है या वो नष्ट हो जाती है तो हम बड़े बेचैन हमारे को बड़ी अशांति बच्चे हमारे हमारे से संबंधित व्यक्ति कभी कुछ बहुत बड़ा कुछ गलत कर दें तो माता पिता या बड़ों को घर से बाहर निकलना दुभर हो जाता है दूसरों को चेहरा नहीं दिखा सकते अंदर ही बंद हो जाते हैं कहीं और चले जाते हैं परिचितों का सामना नहीं कर सकते कारण वो कुछ सुनाएंगे बुरा लगेगा हम तो इनकी बहुत पढ़ाई करते थे बच्चों की व्यक्तियों की संस्थाओं की तो कहेंगे ये है तुम्हारे जिनको तुम इतना कहा करते थे वो ये हैं ये ऐसे हैं सुनना पड़ेगा ये बड़ा कष्ट लगता है इसके पीछे कारण देखिए क्यों हमारे को कष्ट हुआ उसके लिए एक विपरीत उदाहरण भी साथ में ले लीजिए जो व्यक्ति जो संस्था जो बच्चे जो ग्रंथ हमारे से संबंधित नहीं है और वहां कुछ ऐसी ही बड़ी गड़बड़ हो जाती है तो हम बेचैन होते हैं नहीं होते ये हम सब जानते हैं अपने से संबंधित होता है तो हम दुखी हो जाते हैं दूसरे से संबंधित होता है हमारा कोई लेना देना नहीं तो हम दुखी नहीं होते अशांत नहीं होते क्यों ऐसा तो हम या तो यूं कहें स्थूल रूप से कि चूंकि उनसे लगाव नहीं है इसलिए कोई दुख नहीं होता इनसे लगाव है इसलिए दुख होता है भाई लगाव है तो दुख क्यों हुआ हमारे को अशांति क्यों हुई लगाव में ऐसा क्या था कि हम अब अशांत हो गए तो जब हम लगाव में आते हैं राग की स्थिति में आते हैं तो उसके साथ हमारा मैं मेरे का संबंध बन जाता है हम उसको अपना भाग समझते हैं हम उसके भाग हो जाते हैं उस व्यक्ति के उस ग्रंथ के उस संस्था के परिवार के भाग हो जाते हैं और जब उनकी गलती होती है तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारी गलती हो गई उन पर कुछ आंच आती है उनका अपयश होता है तो लगता है जैसे हमारा अपयश हो गया जुड़ाव है हमारा तो आध्यात्मिक व्यक्ति को तो अपने को अलग रखते हुए चलना होता है जब जब हम जुड़ेंगे तो जहां उससे संबंधित वृद्धि में हम प्रसन्न होंगे वहां उसके नाश में हम दुखी भी होंगे हमने जोड़ रखा है अपने को उससे अध्यात्म की यात्रा हर व्यक्ति की अपनी अलग है हर आत्मा की अलग है और इस सत्य को हम इस जीवन में जितना जल्दी स्वीकार कर लें उतना ही हमारे लिए अच्छा है पारिवारिक यात्रा भी हम अपनी अपनी अलग कर रहे हैं हमारे कर्माशय सबके अलग अलग बन रहे हैं हमारे संस्कार सबके अलग अलग बन रहे हैं परमात्मा हमारा जो भी न्याय करेगा वो सबका हमारा अलग अलग करेगा हम ही तो उत्तरदायित्व हमें संबंध बना के चलना है वेद भी कहता है संगठन से रहें मिलके रहें परिवार के साथ रहें सहयोग करें लेकिन फिर भी ये भाव रहे कि ये यात्रा तो मेरी अकेले ही चल रही है जो खाता बन रहा है वो मेरा अपना अकेले का अलग ही बन रहा है ऐसे में यदि दूसरे के द्वारा कुछ गलत किया जाता है तो परमात्मा की दृष्टि से क्या हमारा कुछ गलत हुआ है हमारे बेटे ने गलत किया हमारे पिताजी ने गलत किया बेटी ने गलत किया हमने जो सिखाना था सिखाया जो हमने करना था किया जितना कर सकते थे जितनी समझ थी वो पूरा किया अब बच्चों पे या औरों पे केवल हमारा ही तो प्रभाव नहीं होता है औरों का भी होता है हो जाता है उसका अपना भी संस्कार है अपने कर्म है और ऐसे में यदि वो गलत कर देता है या गलत कर देती है तो उसका ईश्वर की दृष्टि से उत्तरदायी कौन है वो उत्तरदायी है हमने यदि प्रयत्न कम किया तो हम उस अंश में उत्तरदायी बन सकते हैं लेकिन हमने जितना बच्चों को पालने के लिए किया हमारे कर्म का कर्माशय बनता ही चला गया वो तो है बना हुआ जितना हमने किया वो हमारा बना है जैसे एटीएम से पैसे जितने निकाले उतने ही खाते में एकदम से कम और जितने आजकल रुपए भी डाले जाते हैं वो डाल दिए उतने ही हमारे खाते में उसी समय जुड़ गए हमने बच्चों के लिए जितना किया हमने समाज के लिए जितना किया हमने संस्था के लिए जितना किया जितना अच्छा किया वो तो कर्माशय हमारा हमारे साथ है ही वो कहीं नहीं जाने वाला मिल रहा है या मिलता रहेगा अब यदि अन्यों के कारण से दिक्कत आ रही है परिवार में संस्था में समाज में तो उसमें हम तो दायित्व तो नहीं है हमारा दायित्व तो नहीं है उन दूसरों ने गड़बड़ कर दी है उसका कर्म उनके साथ में हमारे मन में आता है कि बच्चे को मैंने इतना पाल पोस के बड़ा किया अब देखो सारा समाप्त हो गया मेरा तो सारा प्रयत्न ही व्यर्थ हो गया बेचैन हो जाता है व्यक्ति 20-25 साल तक इतना प्रयत्न किया अब ये बिगड़ गया लत लग गई इसको बुरी मेरी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई और बेचैन है अशांत हमारी मेहनत व्यर्थ कहां गई हम मेहनत को वहां परिणाम में देख रहे हैं कि वो परिणाम भी वैसा आए तो हमारी मेहनत सफल है नहीं हम जो भी करते हैं उसका परिणाम अच्छा बुरा कम या अधिक क्या आता है वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता है दुनिया में बीसियों तथ्य फैक्टर्स ऐसे हैं जो उसको प्रभावित करते हैं व्यक्ति हैं स्थितियां हैं प्रभाव नहीं आएगा कम आएगा आएगा तो आएगा हमारा पुण्य उस पर निर्भर नहीं करता है हमने जितना किया उस पर निर्भर करता है किसी मजदूर ने झोपड़ी बनाई मेहनत की आंधी आ गई उड़ गई क्या उसका वेतन कटेगा वो दुखी होगा देखो मैंने मेहनत की और मेहनत व्यर्थ हो गई हानि होगी तो मालिक की होगी उसको तो वेतन मिलेगा उसने काम कर दिया था बाद में आंधी आ गई तो उसका क्या दोष है और यदि फिर झोपड़ी बनानी पड़ी तो उसको फिर अवसर है फिर रोजगार मिल गया उसको तो दुखी किस बात से हो यदि लगाव कर लिया है तो लेकिन अगर अपने को अपना खाता पता है तो दुख की कोई बात ही नहीं है हमने किसी संस्था के लिए बहुत किया वो संस्था अगर अब ठीक नहीं चल रही है संगठन ठीक नहीं चल रहा है हमने जो किया था वो हमारे साथ में है कोई नहीं छीन सकता और संस्था के बिगड़ने से व्यक्ति के बिगड़ने से हमारे उस किए हुए में पुण्य में कहीं कोई कमी नहीं आई तो अशांति किस बात की डर किस बात का दुख किस बात का जब हम परमात्मा की न्याय व्यवस्था को स्वीकार कर लेते हैं इस रूप में उसके रहते हमारी कोई हानि नहीं हो सकती अंततः प्रारंभ में लग सकती है लेकिन कोई हानि नहीं होगी यही तो उसकी विशेषता है उसके यहां कोई छल कपट नहीं कोई अन्याय नहीं कोई रिश्वत नहीं कोई कहा सुनी नहीं जो है वैसा का वैसा न्याय हो जाएगा अशांति क्या हम जिन व्यक्तियों से समूहों से संगठनों से संस्थाओं से जुड़ते हैं उनके साथ जुड़ के उनकी वृद्धि में यश में हम भागी होते हैं और हमने सुख लिया हुआ होता है हमने बहुत प्रशंसा की जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा बेटा ऐसा मेरे परिवार में इतने इंजीनियर मेरे परिवार में ऐसे वो अपनी प्रशंसा कर रहा होता है उनकी नहीं उनकी भी कर रहा होता है लेकिन कहने का प्रयोजन क्या है वहां पर दूसरे को बताना कि देखो मेरे ऐसे हैं हम स्वस्वामी संबंध बना हुआ है और उससे हम सुख लेते हैं और जब हम इससे सुख लेते हैं तो जब उनकी कोई बाधा होती है उनका अपयश होता है उनकी उनका घाटा होता है हानि होती है तो हमारे को दुख भी आएगा लोग भी कहेंगे तो हम अपने से जुड़े व्यक्ति के कारण जब हमें दुख हो जाता है अशांति हो जाती है उसमें कारण हम हैं क्योंकि हमने पहले उनसे संबंधित सुख का उपभोग किया है भरपूर उपभोग किया है बच्चे अच्छे होते हैं तो माँ बाप कितने खुश होते हैं खुश होने का मना नहीं है अच्छी बात है हमने बच्चों को अच्छा बनाया योग्य हैं वो प्रसन्नता होनी चाहिए लेकिन एक साधक की दृष्टि से अपनी आत्मा को अलग रखते हुए कि बच्चों ने मेहनत की है उनका है उनसे जितना मेरे को अनुकूलता मिल रही है मिल रही है व्यक्ति को ये लगता है जैसे बच्चे बन गए जैसे मैं बन गया बच्चे धनवान बन गए जैसे मैं बन गया बच्चों ने अच्छा कार्य किया जैसे मैंने कर लिया हम अपने पे आरोपित कर लेते हैं और हम जितना अधिक आरोपित कर लेते हैं अपने पे जो व्यक्ति जितना जितना जुड़ जाता है और जितना जितना उसने अपने से संबंधित लोगों से सुख ले लिया है उतना उतना उसको दुख आने ही वाला है क्योंकि जिसके प्रति हमने सुख लिया तो सुखानुशयी राग राग तो बनेगा पर जब उसकी हानि होगी तो दुखानुशयी द्वेष वहां पर दुख भी आएगा द्वेष भी आएगा ही ये अटल सिद्धांत है तो उपाय क्या है शुरुआत में ही अपने को संभाल करके चलना हमें जो करना है किया और परमात्मा की व्यवस्था में हमारा कर्माशय और हमारे चित्त पे जो संस्कार पड़ने थे वो पड़ गए हमारी संपत्ति हमारे हाथ में है कुछ नहीं कुछ भी हो जाए दुनिया में न छिन सकती न लुट सकती हम अपने आप में संतुष्ट हैं और हमारे से संबंधित व्यक्ति की वृद्धि हो रही है ठीक है हम उसको प्रोत्साहित करेंगे अच्छा लगेगा लेकिन जुड़ेंगे नहीं ये रहेगा कि ये उसकी है ये मेहनत उसने की है ये कर्म उसने किया है मैं उसको अपने पे क्यों ओढ़ू एक सामान्य प्रसन्नता की बात व्यवहार की बात वहां तक ठीक है इसलिए जो हमारी अशांति है उसका कारण हम स्वयं है और हम स्वयं उससे जुड़ जाते हैं तो साधक जब कर्म करता है कितना भी करे लग करके करे लेकिन अपने को अलग रखते हुए मैं कर रहा हूं बस कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर लगाव नहीं होगा तो करेंगे कैसे जैसे बिना लगाव के हम करेंगे ही दूसरों के बच्चों पे लगाव नहीं होता है तो हम उनके लिए कुछ नहीं करते हम ये समीकरण बना के चलते हैं कि लगाव है इसलिए हम कर रहे हैं नहीं ये अच्छा है इसलिए कर रहे हैं इसके करने से मेरे को अच्छा होगा पुण्य बनेगा ईश्वर की दृष्टि में मैं अच्छा बनूंगा इसलिए कर रहे हैं और ऐसा सोच के जब करेंगे वो कहीं पर हटेगा नहीं कभी जा नहीं सकता नष्ट नहीं हो सकता तो अशांति नहीं है एक उदाहरण लेते हैं एक शिवरार्थी महानुभाव की पर्ची है ऐसी स्थितियां होती हैं क्या कर सकते हैं आज की कक्षा में अशांति के कारण ढूंढने की चर्चा हुई मैं अपने घर के कारणों से अशांत हूं घर में सबसे बड़ा हूं संयुक्त तो परिवार रहते हुए बड़ा होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारी उठाई एक भाई जो मेरे से आठ दस साल छोटा है उसके तीनों बच्चों को भी मैंने सरकारी सेवा में होते हुए अपने पास रखकर उनकी पढ़ाई पूरी करवाई उनकी सब शादियां की बच्चे सब मजे में हैं लेकिन फिर मुझे देखकर अशांत रहता है यानी इनके छोटे भाई और मुझे भी अशांत रखता है मुझसे पूर्णतया द्वेष रखता है अनपढ़ तो है ही उसी प्रकार की भाषा भी बोलता है मन में द्वेष पाल लिया है कि मैं इसे किस तरह से घर से भगाऊं वो इनको भगाना चाहता है लेकिन मैं उसकी सारी बातें सहजता से सुनता हूं आत्मनिरीक्षण करता हूं कि क्यों वह खुद को और मुझे अशांत रखता है मुझसे अब वह अलग है उसकी कंपनी भी अच्छे आदमियों की नहीं है समझ में नहीं आता है कि क्या करना है कुछ नहीं करना है शांत हो जाना है बस आपने कर दिया ना इतना दुख का कारण क्या है वो तो अशांत है जिस भी कारण से हो आपने उनके बच्चों को पढ़ा दिया शादियां कर दी आपका पुण्य आपके पास में है और लोग भी जानते होंगे जो आसपास के हैं परिवारजन है अब वो आपसे देश करते हैं आप क्यों आशा रखते हो कि वो मेरे से प्रेम ही करे हो सकता है नहीं करेगा अपना अपना ज्ञान है उनको यही मन में आता हो कि देखो मैं अपने बच्चों को नहीं पाल पाया इन्होंने पाला तो मेरा एहसान हो गया इनका मेरे पे बहुत ज्यादा वो दबाव अनुभव कर रहे हैं और उसको निभाने के लिए हटाने के लिए वो आपसे देश कर रहे हैं कुछ भी कारण हो सकता है वो अशांत है उनके अपने कारण है आप क्यों अशांत हैं भाई द्वेष करता है मेरे से करने दीजिए बहुत लोग होते हैं करते हैं आपने समझाने का प्रयास किया होगा आपने अपनी तरफ से अच्छा किया फिर भी कोई द्वेष करता है तो करता है कर्म की स्वतंत्रता है परमात्मा भी नहीं रोकता है मनुष्यों को तो स्वतंत्र है हम ये क्यों समझें कि ये हम अपेक्षा क्यों रखें कि मैंने इतना कर दिया तो वो मेरे से द्वेष नहीं करेगा कर सकते हैं अपना अपना ज्ञान है अज्ञान है लेकिन आपको हानि क्या हुई हानि क्या हुई कि जब वो कहते हैं तो मेरे को बहुत दुख होता है अब ये जो दुख होता है ये हमारे अपने कारण से है वास्तव में तो कोई हानि है नहीं हाँ, बोल दिया बोल दिया दुख हमारे को हो रहा है क्योंकि हम यश चाहते हैं क्योंकि हमारा उनसे लगाव है अपनी तरफ से समझाने का प्रयास करने पर भी अनुकूलता पैदा करने पर भी यदि कोई प्रतिकूल रहता है तो ठीक है रहता रहे और मन में ये दुख हो कि भाई मैं देखो भाई को ठीक नहीं कर पाया भाई का द्वेष नहीं हटा पाया इसी से अशांत है व्यक्ति क्योंकि भाई भाई में तो प्रेम होना चाहिए हमारे यहाँ तो राम और लक्ष्मण और भरत की के आदर्श है भाई भाई में द्वेष है तो हमारे लिए तो बड़े मरण की बात हो गई भाई भाई भाई में द्वेष है इसका ये मतलब नहीं कि दोनों भाई खराब हैं भाई भाई में नहीं बनती इसका ये मतलब नहीं कि दोनों ही खराब हैं एक के खराब होने के कारण भी तो ऐसा हो सकता है हम क्यों दुखी हो हमने अपना कर्तव्य पूरा किया भाई का कर्तव्य निभाया इतने मात्र से संतुष्टि पर्याप्त दूसरी बात हम कुछ ये और ओढ़ लेते हैं भारतीय संस्कृति के नाम से कि भाई भाई हैं साथ साथ ही रहना चाहिए अलग हो गए तो ये तो बेज्जती हो जाएगी समाज में बोले इतनी बड़ी बातें करते हैं भाई के साथ नहीं रह सकते ये कोई लज्जा की बात नहीं है हाँ हम यदि कारण हैं साथ में न रहने के हम अशांति पैदा करते हैं तो हमारे लिए लज्जा की बात है दुख की बात है हम अपनी तरह से अच्छा कर रहे हैं और दूसरा कुछ गलत कर रहा है और हम साथ में नहीं रह पा रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं बल्कि साथ में नहीं रहना चाहिए ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे साथ का कोई व्यक्ति इतना गलत है कि वो गलत व्यवहार किए जा रहा है किए जा रहा है और हम उसी को सुधारने में लगे हुए हैं और वो सुधरने वाला नहीं है बहुत कम सुधरेगा क्या ये हमारा दायित्व तो बनता है कि हम करते ही जाएं करते ही जाएं भाई संबंध तो तभी निपटा है जब हम करते जाएं नहीं जब विपरीत स्थितियां होती हैं तो अपने को अलग करना उपाय आवश्यक है महर्षि दयानंद ने वहां से हम संकेत ले सकते हैं कि जिनके गुणकर्म स्वभाव नहीं मिलते हो उनको विवाह नहीं करना चाहिए भले ही आजीवन अविवाहित कुमारा रह जाए लेकिन विवाह नहीं करना चाहिए से जिनके गुणकर्म स्वभाव आपस में नहीं मिलते कुछ अधिक सकारात्मक ढंग से ऐसे सोच सकते थे ना महर्षि कि नहीं जिनके गुणकर्म स्वभाव नहीं भी मिल रहे हैं तो हम प्रयास करें कि उनके गुणकर्म स्वभाव हमारे अनुकूल हो जाएं हमें प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिए ये तो भागना हो गया पलायन हो गया उससे हमने संबंध ही नहीं किया जिम्मेदारी और हिम्मत वाले तो वो लोग होते हैं जिनके गुणकर्म स्वभाव विपरीत होते हैं तो भी नहीं मैं इनके गुणकर्म स्वभाव ठीक करूंगा और मेरे को इनके गुणकर्म स्वभाव विपरीत लग रहे हैं सहन नहीं हो रहे हैं तो ये तो मेरी कमजोरी है नहीं मैं इनके साथ ही रहूंगा और गुणकर्म स्वभाव को सहन करूंगा ये मेरी बहादुरी है क्योंकि कितना सकारात्मक सोच है भागने का नहीं संघर्ष करना सहन करना ये सकारात्मक सोच महर्षि दयानंद को नहीं आया एक ऋषि को नहीं आया ये सकारात्मक सोच नहीं है ये रागात्मक और अपनी अविवेकपूर्ण स्थिति है ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी के साथ में हम रहे ही किसी के साथ गुणकर्म स्वभाव नहीं मिल रहे तो शादी ही करें हम उससे कोई जरूरी नहीं है और बहुत से मिल जाएंगे गुणकर्म स्वभाव जिनसे मिलते हैं हमारे दुनिया बहुत बड़ी है हम अपने जीवन को इतने महत्वपूर्ण जीवन को केवल उन्हीं के सुधारने में उन्हीं से सामंजस्य लगाने में लगाते रहें और अशांत होते रहें ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है हमारे को गाड़ी ले जानी है आगे चट्टान है पराक्रमी व्यक्ति कौन है चट्टान को हटाएगा तब आगे जाएगा जो बगल से निकल गया वो तो भागने वाला है भाग गया ये तो परिस्थिति को ठीक ही नहीं क्या सकारात्मक सोच क्या है गाड़ी रोकेंगे चट्टान को हटाएंगे साफ करेंगे फिर आगे जाएंगे नहीं ये बुद्धिमत्ता नहीं है हाँ कहीं आवश्यक है तो वो भी करेंगे चट्टाने पड़ी हैं पड़ी है हम बगल से निकल के जाएंगे ये यात्रा हमारी सबकी अपनी अपनी चल रही है कोई किसी का नहीं है मूलतः हमारी सबकी अपनी अपनी यात्रा चल रही है इस कटु सत्य को हम जितनी जल्दी समझ लें उतनी जल्दी हमारी आध्यात्मिक यात्रा ठीक चलेगी हम अशांत कम होंगे लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम किसी की परवाह ना करें और अके, अकेले ही चलें और हम अकेले सब कुछ कर लेंगे हम अकेले भी नहीं कर सकते भाव बना रहे कि हम यात्रा अकेले ही कर रहे हैं दूसरों से हमें उसी तरह से चलना है व्यवस्था बनानी तो यदि कभी आपको भाई से ऐसा लगता है इतना करने के बाद भी कि तालमेल नहीं है दुनिया कहे तो कहे आपने पूरा प्रयास कर लिया आप अलग भी रहते हैं कोई बात नहीं उद्वेश करता है कोई बात नहीं आप तो अशांत ना हो आपने तो इतना किया है उनके लिए आपके लिए संतोष की बात होनी चाहिए अभी दृष्टि भेद ही तो है इतना करने के बाद भी हम अशांत हैं समाज और संस्था के लिए इतना करने के बाद भी हम अशांत हैं ये हमारी दृष्टि का ही भेद है बस वास्तव में हमारी कोई हानि नहीं हुई हमने जितना प्रयत्न किया जितने विचार और भावना से सहयोग किया वो हमारे साथ में संपत्ति के रूप में है कोई कभी नहीं छीन सकता तो जब साधक आध्यात्मिक व्यक्ति उन हानियों को जिनके कारण से उसको दुख हो गया है अशांति हो गई है उसको भिन्न दृष्टि से देखता है परमात्मा को बीच में ले आता है आत्मा को बीच में ले आता है जो कि वास्तविक सोच है तो बहुत कुछ समाप्त हो जाएगा क्षीण हो जाएगा और भी कई तरह से हम सकारात्मक देख लेते हैं देख ये जो बुरे व्यक्ति होते हैं बुरा व्यवहार करते हैं गलत व्यक्ति होते हैं गलत व्यवहार करते हैं तो हमें लगता है ये हमारी हानि ही हानि कर रहे हैं वो एक काम अच्छा करके जाते हैं बुरे व्यक्ति जितना अधिक बुरा व्यक्ति होगा वो हमारे को उतनी अच्छी सीख दे करके जाएगा जितना गलत व्यक्ति होगा वो उतनी सही सीख हमारे को देके जाएगा पाठ पढ़ा के जाएगा हमारे को ये जीवन है पाठशाला है लोग जीवन बिता देते हैं तो भी समझ नहीं आती समझ के लिए हजारों रुपए दे दे करके कार्यशालाएं होती हैं कुछ घंटे के लिए जाते हैं कुछ सीख मिल जाए हमारे को संदेश मिल जाए वो हमारे को सीख दे गया उसने ऐसा गलत व्यवहार किया हम अच्छे थे उसने हमारे साथ गलत किया सीख दे के चला गया वैराग्य को पैदा कर सकते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है एक समझ आ गई तो राग नहीं रहेगा हम सोचते हैं नहीं ये व्यक्ति तो ये गलत काम नहीं कर सकता ये तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता ये तो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा ये जो हमारा सोच है इसमें अविद्या ही तो है और दुनिया भर की चीजों को लेकर के हम अशांत होते हैं ये हम स्वयं इसके बहुत बड़े कारण हैं हम अपने आप को अंतर यात्रा में जब देखें बैठें जो भी घटना हो गई अशांति की होगी घटनाएं हम भी अशांत होंगे लेकिन बैठ लें थोड़ी देर अकेले में और किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं है पहले खुद देख लें समस्या कहां पर है फिर समझ में नहीं आता है तो दूसरे से पूछें वो बता सकता है कुछ जो बताने वाला होगा नहीं तो हमें खुद ही समझ में आने लगेगा कि इस घटना में मेरी अशांति का कारण ये था ये मेरी अविद्या थी और अगर हमने ये सब ज्ञान पढ़ रखा है उसको हम उपस्थित कर सकते हैं हम उस समय पहले नहीं ध्यान रख पाए और अशांत हो गए जब एकांत में बैठेंगे उन चीजों को ध्यान करेंगे अरे ये तो ऐसा है मैंने तो ऐसा समझ लिया मैं तो ईश्वर को भूल गया था इसलिए अशांत हो गया तो हम जब बैठेंगे शांति से उन चीजों को लेंगे समझेंगे तो वो अशांति कभी तो ऐसे जाएगी जैसे पता ही नहीं लगेगा क्या जैसे गधे के सिर से सींग तो यूं ही मैं अशांत हो रहा था कुछ था ही नहीं यहां पर और जहां कुछ है भी हानि का तो हम उसको दूसरी दृष्टि से सोचते हैं तो हम अपनी अशांति को हटा सकते हैं केवल विवेक की सोच की घटना के विश्लेषण की दृष्टि अलग करनी है एक एक घटना पे जाके आपको देखना होगा बैठ के देख लीजिए पिछली घटनाएं बहुत सारी घटनाएं जीवन की बनी पड़ी है आसपास की ले लीजिए विश्लेषण कीजिए जब होती है तब कर लीजिए भविष्य की मैं कर लीजिए करते करते करते ये इतना स्पष्ट हो जाएगा साफ हो जाएगा कि हम सहजता से अपना जीवन कर सकेंगे और उन परिस्थितियों में रहते हुए भी हम अपने को अधिक शांत रखते हुए और अपनी आध्यात्मिक साधना को कर सकेंगे तो इस सबके लिए अंतर यात्रा की अपने मन को देखने की बहुत आवश्यकता है आज का विषय इतना ही रखते हैं ओम शांति तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे नेत्रों को बंद कीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि मैं अपने को अपने विचारों को प्रभावों को अच्छी तरह समझकर शांत रह सकूं श्वास भरिए ओ सादर अभिवादन